आपके पास थोड़ी परेशानी में कम भी कर देंगे अगले जन के पास ट्रांसफर कर देंगे ऐसे ऐसे तो कर लेते हैं लेकिन राज्य का बात क्या नहीं चलेगा तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि यथाभूत कर्म फल साधन तो उनकी जैसा जैसा कर्म किया था तब फलभोग का साधन रूप फलभोग के साधन के अनुरूप अर्थान उन्हें मतलब कर्तव्य पदार्थान हाँ। अपना अपना कर्तव्य पदार्थम को धर्माधिपदों को यथा विधवान यथानुरूपम यथशक्ति जिसकी जिसकी जैसे जैसे अनुरूप है उनके अपने अनुरूप उनको उचित दिया है शाश्वती नित्याद्य समाध्य मैंने समस्या प्रजापति संवत्सर वही प्रजापति ऐसा उपनिषद में आया हुआ है संवत्सर उसके पर्व है संवत नाम दिया सालीन काल गयतिनेम संवत नाम को प्रजापति और प्रजापति आई प्रजापतिभ्या अगले मंत्र की अवतरणी का अत्र आद्यम मंत्रेण सर्वेश्वरा परित्याग ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथम वेदार्थ प्रथम वेदार्थ प्रथम मंत्र का देखिए मंत्र प्रथम मंत्र का ईशावास सर्वमित्यादि मंत्र का यह ईशावास सर्व मार्ग सिद्धम नाम ऐसी उपासना करने का फल तो वैचारण का फल वह उपासना का फल तो बताया सप्तान सप्तम क्या है एक साधारण मन्नम यही हम अद्भुत जो हम लोग खाते रोटी चावल दाल भात ये सारी चीजें के पहला अन्न दूसरा अन्न क्या है देवताओं के खुद और खुद नाम के दो अन्न दुर्गा जी जो उनके हवन में इस्तेमाल होता है ये मेरा गया तो तो प्रसिद्ध तो है और पवित्र विशिष्ट है प्रयासादी तो दोनों उनका अनुच्छेद और तीनों भोग्य साधन ये मन वाणी और काम सभी के सभी के लिए विद्यमान ये तीन के लिए अंक कहा मन वाणी और काम ये तीनों चीज अंग है एक समय हो गया जो विचार आगे दूसरा हित पहुंचना जो दो तीन तीन और तीन छह और एक अंत सातवा है पशुवायु सर्वत्र जो भाग आदि है तो तो सब अंत है है एकम साधारण मंदिर मध्य है द्वे देवान उत प्रभु के दर्शक प्रणवास होगा त्रिलक्ष्य भूलचारण मनोवाक्ता लक्षणानी लक्षणानी होगी लक्षणानी पशुओं का वेतन तक पड़ेगी सप्तान सर्वो दर्श दर्शन किया फिर तन्नारी मिलिया तब सगले इत्यादि का स्थान दे दिया है और स्थान से आत्मभाव है ना उनका ही आत्मभाव से आत्मस्वरूप व्यवस्थित होना ही इसका वास्तविक फल है जयादि लेशनात्र संन्यास अब यह हो गया समझा खत्म यहाँ से तक कर्म निष्ठा उत्तर दिया आत्मसंतोष स्थान प्रेम जायादि की योजना को त्याग पूर्वक आत्मविराम कर्मनिष्ठा लिए ज्ञाप होता है यह जैन योजना त्रय का संन्यास त्रय त्रय योजना त्रय संन्यास होना आत्मविदान कर्मनिष्ठा प्राधिपूर्ण होना आत्मविताओं के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल होने के कारण है आत्मसर्वनिष्ठा केवल दर्शिता आत्म निष्ठा मात्र दर्शा जाए प्रजाजक में किन प्रजा करिष्यामो हो ब्रह्मात्मा अयम लोग अरे मैं उस प्रजा संतान आदि से क्या करूंगा जिनका कोई न लोक है न कोई चीज होता है ऐसा शाम आत्मा जिनका ये आत्मा नहीं होता और जिनका लोक आदि इत्यादि के द्वारा इत्यादि ना लोग शुरू ही प्रगर सुख के साथ व्यवधान इत्यादि ना उदय निष्ठा प्रदर्शित पूर्व से हमारे हो जाए इत्यादि ना भी बताया हुआ है हमारे पुस्तक अनुसार चौतीस पृष्ठ में आप दुर्गन्य के अति प्रदर्शित है स्वकाल के विश्व की भाषिका ध्यान देकर पूर्वान रहे कोई क्रिया पर ही इत्यादि ना आगे उठाए तो अन्य पूछे उत्तर बिना भगवान ने कह दी कर्म और ज्ञान निष्ठा जो यह दो मंत्रों में वर्णन किया गया है इसमें विस्तृत व्याख्या होकर भगवान नदी में दिखा गया है ये ज्ञान निष्ठा संन्यासिना असुरिया नाम इत्यादि ना अविद्युन निंदा द्वारा आत्मयाथात्म स्वप्रत्येक बनते रूप निष्ठम यही अप्रधिग्रता न कामना इसलिए ये जो ज्ञान निष्ठा सन्यासी जो ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासी हैं उन्हीं उनके लिए जो है असली नाम के निंदा द्वारा आत्मा ही लाथार्थ स्वरूप जो स्वर प्रयोगाद इत्यादि मंत्रों में कभी तो उन मंत्रों के उपयुक्त में तो निष्ठा होना चाहिए और वे ही यहाँ पर अधिकृत है काम नहीं है ये बात स्पष्ट कर दिया गया क्या प्रमाण है तथा श्रोता श्रोतराणाम मंत्रों परिषद श्वेता सूत्र मंत्रोपनिषद श्वेता परिषद वाण स्पष्ट ही है अत्याश्वेद्य परम परिपूर्ण अत्याश विद्या परम पवित्रम संग विशेषंग दुष्टम पूर्वाचार अत्याशयों के लिए जो परम पवित्र सम्यक प्रकार से ऋषम के विशेषण के द्वारा संयुक्त जो आत्मज्ञान का कथन किया गया है इत्यादि के द्वारा विभाग पर वहां पर भी तो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा कर सकते कर्मण कर्मनिष्ठा कर्म कुरंत जो कर्मियों के अंदर कर्म की निष्ठा है और कर्म को करते हुए तो जीवन उठते और कर्म करते हुए ही जीना चाह रहे हैं मंत्र आरंभ हो रहा है उनको ये कहना है अरे भाई तुम कर्म करोगे तो करो और संसार जियो कोई आपत्ति नहीं है उचित नहीं है तुम कर्म और उपासना दोनों को मिला के करना चाहिए केवल कर्म करेगा तो उसके लिए उसका उद्धार नहीं होगा स्वर्गारी जरूर मिलेंगे फिर चक्कर काटते रहेगा केवल उपासना करेगा वो भी दोनों का ही प्राप्त करेगा वो भी चक्कर काट के लग जाएगा कर्म ऋषि की उपासना करता है जो निश्चित रूप से वहां उत्तरायण मार्ग का विकल्प करके उसका भी कल्याण अवश्य होगा प्रतिपादन प्रतिपादन करके कर्मियों को समझाने की चेष्टा किया जा रहा है तुम्हारा भी कल्याण की वृद्धि है ये मत सोचना कि तुम्हारा कल्याण हो जाएंगे तो सन्यासियों को ही मोक्ष का ठेका है ऐसी बात नहीं हम कर्मियों से भी मोक्ष में सकता है लेकिन एक वाणी है सन्यासी को सदैव मुक्ति मिल सकती है तुम उपासना से कर्म करोगे तो वो क्रम मुक्ति मिलेगी मुक्ति का दोनों अधिकारी इस तथ्य को समझाने के लिए वहां से निकालन होता है उपास जो देव अविद्या अर्थात केवल अग्निहोत्रादि कर्मों को अविद्या शब्द वाक्य केवल कर्म विद्या रहित है मैंने उपासना है विद्या में अविद्या उपासना रहित केवल कर्मों को उपाध से अनुष्ठान करता है वे अज्ञानी लोग जो है अंधवी प्रवेश अज्ञान नीति वो अंधकार को प्रवेश करती है अब हमारे अज्ञान अज्ञान रूपी जो घोर अंधकार है इस लोग प्रवेश की रहती है ऐसा उनकी मुक्ति का रास्ता है नहीं उनको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा उनसे भी खराब है को केवल कृष्ण उपासना करने वाले ये विद्या और जो लोग केवल विद्या में देवताओं की उपासना मात्र में लगे हुए हैं अपना वर्णाश्रमानुसार प्राप्त कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं केवल देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं उन लोगों की क्या दुर्दशा होती है तो, तो तमो जो वो कर्मी केवल कर्मी जिस प्रकार के अज्ञान आत्मक अंधकार में प्रवेश करता है उस दूरी अधिक तक घोर अंधेरे में तो घुस जाएगा इसलिए केवल कर ही जाना मान लो सौ दो सौ पांच सौ छह सौ हजार साल तक स्वर्गारी रखकर लौट आएगा कहीं देव उपासना करने वाला कहीं प्रकृति को प्राप्त तो लोग को प्राप्त होता है दो तक कम मरेगा तब वहां से वापस आना पड़ेगा उतना समय तो वहां पर आ रहे हैं वहां ना विद्या कुछ नहीं जो प्रकृति नहीं वाले हैं और प्रकृति में प्रकृति नजर पड़ेगी जब तक प्रक्रिया तब तक ऐसी उपासना की काम यहाँ मृत्यु होने की गुंजाइश मिली और जल्दी से हम लोग भूल हो गया चले ही गए फिर लौट के पाना तो चाहिए जो कहा था ना झोला झोला घर पर लौट गया गया तो पढ़ाया नहीं होता शाम को लौट आएंगे तो पलाया नहीं देखा तो देखा ही चल ठीक है नाराज हो गया लड़ाई झगड़ा हो गई भूल चूक हो गया गलत मत रखा हो जाएगी हाँ और आपकी जो है दंड की कर्म जो श्राद्ध होता है वो तो करना के पार कर्म संस्कार करना है तो देवी चौधरी का टका दे रखे निकालना नहीं जल्दी और रखे हो तो बाकर संस्कार करो श्रावण तुलना में करना चाहिए हम देखते कितने हजार ब्राह्मण ऋषि के इसमें इनको मेरी घाट मुझे तो पांच बजे से अब भंडार के बड़ा ब्राह्मणों को भंडार आएगा ना बच्चे उधर <laughs> आ उनकी थोड़ी आप अगर नहीं कर रहे हैं और केवल देवता की भक्ति करोगे नतीजा क्या होगा कर्मी से आप कर्मी को जल्दी से जल्दी फल से लौट भी जाएगा और आप उन देवता आदि के शरीर को प्राप्त कर जाएंगे उन देवादी लोगों को ऐसे प्राप्त कर जाएंगे जहाँ से आप जल्दी लौट ही नहीं सकते बहुत सुंदर गुजर जाएंगे जीवन में आप ये उसको दुर्गदार भाषण में देखे हुए महाभारत में देखे हुए और पुराणों में लिखे हैं लिखा है किस उपासना करने वाला कौन सी लोग को जाएगा दंगल लोग को जाएगा फल लोग को जाएगा कौन कहा जाएगा और कितने हजार मनोंतर दस मनोंतर शुरू किया दस सौ हजार दस हजार एक लाख दस लाख एक करोड़ दस दस करोड़ एक अरब मनमंत्रों तक चला रहा है ऐसे ऐसी जीवित करके उसे बाद मान लो लौटे तब ब्रह्म ज्ञान का दोबारा छान वही से प्राप्त हो जाते इतना होने के बाद इसीलिए केवल कर्म के अपेक्षा से केवल उपासना करना और ज्यादा नुकसानदायक है इसलिए कर्म को समझाया जा रहा है और उपासक को भी समझाया जा रहा है तुम केवल कर्म भी निष्ठा मत करो केवल कर्म निष्ठा करोगे तभी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं अपने उपासना करेंगे तो भी बनेगा इन दोनों में से भी केवल पुरुष में कुछ अच्छा लेकिन रुचि भी क्या है अच्छा तो है पर रुचि भी क्या है तब कहेंगे उपासना निश्चित कर्म करो उपासना करो और कर्म भी करो अर्थात दो अलग चीज नहीं क्या नहीं कर्म में ही उपासना हुआ करती है अलग नहीं कर्म में ही उपासना हुआ करती है जैसे तुम्हें बार बताया था आप कर्म कर रहे हैं जैसा करके सुन रहे हैं घूम रहे फिर रहे हैं खा रहे हैं चाय पानी चल रहे हैं कुछ भी है इन सकल कर्मों में भी लौकिक कर्म सबके साथ इन लौकिक कर्मों में भी वो बाधा करते ईश्वरार्पण बुद्धि ईश्वर अर्पण बुद्धि से आमता ममता परीक्षा आप लोग की रही ये मान करके मैं नहीं खाता हूँ पंचायत को मैं खिला रहा हूँ भावना करके उपासना क्या है मानसिक भावना है कर्म क्या है शारीरिक क्रिया है शारीरिक क्रियाएं जब हो रही है उसे अगर मन की भावना क्या करोगे उसके अनुसार उस कर्म का फल प्राप्त होगा इसलिए उपासना जिस कर्म होना तो सोचिए हम यज्ञ में बैठेंगे या देवता का ध्यान करने का नाम उपासना सच करेंगे ऐसा नहीं आज की दिनचर्या में प्रत्येक क्रियाक्रम कलाप जो हो रहा है इन सभी को भी उपासना विशिष्ट किसी बात का संधान देखा जाएगा उपक्रम महाराज मानना चाहिए पहला मंत्र जब ज्ञान है तो अंतिम धारा उसी की चर्चा है बीच में क्यों जो है कर्म इसलिए निर्णय आप इस आधार पर लिया अकामियों के लिए ज्ञान है अकामियों के लिए कर्म है अकामियों का विचार दूसरे तीसरे से लेकर के आठवें तक हुआ और नवे से आरभ हो रहा है कामियों का प्रकरण ये आपको कैसे निश्चित हो रहा है रहा है प्रथम के लोगों अवगम मिले कि हम कैसे आपको ज्ञान हो गया कि ये जो प्रकरण है सर्वेशा निरोध काल अकाल सदियों के लिए नहीं है कुछ चुपते हैं कुछ देते हैं तो कथन तो ये होगा करते न तो सर्वेशा अकामी रहा सारे सारे भेदों को मर देना यस्मिन सर्वाणी भूतानी आपको रघु ज्ञान कहो सत्य कहो शोक कर्तव्य पश्चित ये आत्मगत ज्ञानम कंचित कर्मणा ज्ञानम देना ही अमूढ़ संस्कृति ये जो है जो अकामी है ये साध्य साधन भेड़ का ही उपमर्दन कर दिया है साध्य साधन भेड़ का उपमर्द देना अकामी जो होता है वो तो क्या करता है उसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया ना हाँ, पहले तो सर्वेश्वर आत्मा नहीं था तो सर्वेशा आत्मा देखा फिर सर्वमेव आत्मा करके अनुभव कर लिया का विवाह करने सब बढ़ेगा इत्यादि विचार में शुद्ध रूप को विचार लिया अब उस व्यक्ति के लिए साध्य साधन भी रहा था साधन साधन भी खत्म नौ के किंचित साध्य है नौ साध्य पर उसके कोई साधन ही है इसे समर्पित हो जाने के कारण नष्ट हो गया उसके लिए साध्य साधन भी अतएव तो उस व्यक्ति के प्रति ये जो आपके एकत्रित ज्ञान का कथन हुआ है इसमें सर्वानुक्त नियंत्रण से वह आत्मिक विज्ञान को कोई अमूल व्यक्ति न हो तो मूल हो तो कोई बात नहीं मूल होगा तो जरूर ज्ञान और कर्म में उपासना और कर्म का ज्ञान के साथ में समुचित करने की चेष्टा कर लेता है लेकिन जो मूल नहीं है अमूलातम कथम समुचित क्षति समुच्चय नहीं कर करने की इच्छा कैसे कर सकता है और समुच्चय करने की इच्छा कभी करेगा नहीं है इसका किसके साथ कभी परिलक्षित करना ज्ञानांतरेणवा इस आत्मिक ज्ञान को इस अन्य कर्म के साथ या ज्ञानांतर से उपासना समझते तो ज्ञान से उपासना करते उपासनांतर के साथ वे अमूलासन हम समुचित क्षति न समुचित क्षति अमोड़ा न प्याले कन्ना दिना न तुम्हारे अमोड़ा सन न सूचिया तो मैं चित करी समुची सकेगा लेकिन मूड है फिर तो जरूर भले समुच्चय करेगा जैसे भास्कर आदि ने किया इसकी जो उपनिषद के भास्कर व्याख्या है उन्होंने ऐसे कर दिया है ज्ञान का समुच्चय वाद कर दिया उसी के अनुक्रम बोलना पड़ रहा है भाष्यकार भले तो बोलते ही नहीं है यहाँ का मंत्रों को समुच्चय पर कर दिया का कर्म का ब्रह्म ज्ञान के साथ उपासना का ब्रह्म ज्ञान के साथ करना चाहते हैं समुच्चय जो तो जिन मंत्रों का लक्ष्य है उपासना और कर्म का समुच्चय में क्योंकि उपासना ब्रह्म ज्ञान कर्म और ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय नहीं है भास्कर जी जो है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की सब समुच्चय इसमें संचय कर दिया फिर अमूल ही होगा जो इस तरह का समुच्चय करने की इच्छा करेगा कहीं यहाँ साथ ही सरल भेद ही नहीं रह गया उतनिश्चय करके करेगा जब जब हम ही नहीं रह गए जो अकर्माधिकारी कर्म और ज्ञान को कैसे इकट्ठा करेंगे इसलिए कहते कि देखो कहते यश ये समुच्छेद संभव होती ज्ञानतः शास्त्र तो इसलिए हम यहाँ पर उस चीज का हम भी समुच्चय कहा रहे हैं एवं हम इसका किसके साथ कहना चाह रहे वो तो समझो यश ये समुच्चय संभवती दो का आधार है न्यायता ही और शास्त्र शास्त्र युक्ति और शास्त्र दो आधार पर जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ में समुच्चय हो सकता है वो हम यहाँ कहेंगे तब यह उसको कर्माधिकारी और ज्ञानाधिकारी परस्पर अत्यंत विरुद्ध है ये बात हम पहले ही कह चुके यही बात संबंध राशि में बोल चुके हैं प्रतिबिंब हिमघट है चलकर हिमालय पर मिल नहीं सकती मैं हिमालय हिमाचल से प्रेम कर सकता आवर्त गौरव था तथा अभी ये मदद कह चुके हैं पहले इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान का उपासना के साथ में समुचय क्या संभव है उपासना का कर्म के साथ संबंध करना संभव है इसे प्रमाण है इसे शांत में आप देखते हैं शक्ति चाक्रायण शक्ति चाक्रायण करते हैं और उसी का काम होता है उन्होंने क्या किया जितना कर्म कर्मकांड हो रहा था जिस गाँव में वो थे वहाँ अकाल पड़ गया था तो भटक रहे थे अंधारा का उनके अभाव में जो जानकारी ले रहे थे कहीं कोई लड़के घेरा हो हमारे गुरुद्वारा पहुंचेंगे जब हमारा सलमान और दक्षिण मिलेगी हमारे समझा पड़ गया किसी लोग बेचारे दुखी होकर दूर भटक रहे थे और जो आदमी मुझे करना चाहते तो उनकी गाँव भेजा भी आदमी को वही बड़ा इंसान तो लाओ लेकिन क्या करें ये बात है नहीं कि अकाल पड़ गया तो जा चुके इसलिए वो अज्ञानी जो साधारण मंत्रवित्त जो मंत्रों करते हुए आज के जैसे पंडित इन लोगों को लेकर ये लेके आरम्भ कर दिया था तो इनको बता सकते हैं ये वहां पहुंचे जब वहां पहुंचते हैं तो कर्मकांड चल रहे हैं ये जो हो रहा था अरे वर्ण भी देखो अरे का वर्ण कौन करे इसलिए करे अंध पहचानेगा कौन तो गए तो उन्होंने क्या किया प्रतिपत्ता के लिए पास करे अरे तुम जानते हो जिस लोग देवता का तुम मंत्र बोल रहे हो उस देवता को तुम जानते हो उसका ध्यान करोगे कि नहीं करोगे करेंगे तुम तो जानते मेरा प्रति कठिन देते हैं ऐसे करोगे रहते हुए अज्ञान भी तुम कर्म करोगे तुम्हारा जो कुछ जो नाम यज्ञ गंगा का जो पाठ गया जाएंगे का कार्य यही वो है उसे कुछ हाथ के कहा कि महाराज आप तो निवरण कर लेंगे यही बनेंगे अब कहीं तुम तो किसी को कैंसिल कर दो तो हो गया चिंता वो करो इतना जो सबको दक्षिणा दोगे उतना हमको दोगे <laughs> और हम इनको पढ़ा देंगे अगर हम उनको विद्या जितनी हो जो उपासना है वह उनको दे उसके साथ ही करेंगे ना तुम्हारे पूर्ण फल प्रदान करेगा हाँ। स्पष्ट ही है बिना उपासना करी केवल करूंगा और बिना करूंगा ही केवल उपासना हो सकती हम दोनों में समुच्चय करने पर पूर्ण फल प्रदातृत्व का वर्णन इसलिए शास्त्र प्रमाण है कर्म और उपासना का सूचन लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साथ समुच्चय करने में कहीं ना कहीं शास्त्र प्रमाण है न युक्ति से सिद्ध हो सकता है पर अपने गुरु अधिकारी है वो कैसे करेगा की कैसे करें कोई सन्यासी परम व्रत थे अब कोई दूसरा आदमी आया बड़ा मित्रता हुई ठीक है सत्संग हो रहा है तब तक भी ठीक है फिर कहने लग गया महाराज हमको हमें आप बहुत अच्छा लगे इसलिए हम चाहते हैं आपको जब हमें आपको कन्या दे दी समस्या खड़ी हो जाएगी जब अगला तो है परम व्रत वो काम ही नहीं उनको जाए हमेशा हमेशा की काम ही नहीं है वो अधिकारी नहीं है उस चीज की गृहस्थी का अधिकारी नहीं है वो और आप गृहस्थी के अधिकारी जो आदमी है गलत आप दो अधिकारी अलग अलग विषय के उन दोनों के तालमेल कैसे बैठेगा ये लोक में ही प्रसिद्ध जातंत्र की कल्पना या तो कन्या बैगर में घर चलाए तो उधर आए गृहस्थी बन जाए तो बाहर चला जाए यदि विवेक तो मेरा जो संपन्न है और ज्ञानाधिकारी है मुख्य वास्तव में साइंस से संपन्न है वो व्यक्ति कभी रोग तो स्वाभाविक रूप से आप देख लो लोग देखने मिलता है इस तरह से कि जो अधिकारी है वो कर्म और गृहस्थी में जाएंगे जो ये अधिकारी है वो कभी उसको सोच ही नहीं आजकल ये कई मिशन में रहने वाले जो महात्मा होते मिशन वाले महात्मा हो इन लोगों को तो बड़ा डर लगता है बाहर हम जाएंगे तो रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने कैसे होगा हमारे वहां क्या होगी नहीं हमने लिखा राम के लिए है श्रीराम मिशन के लिए महात्मा कई ऐसे बनते कई बार बातचीत होती करते आप कैसे रहते कैसे चले जाते होना चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए वेलकम करने वाला होना चाहिए माला खड़ी चाहिए गाड़ी होनी चाहिए वहाँ भोजन बने रेडी मिलना चाहिए सारी व्यवस्था होनी तो आप ऐसे चले जाते हैं कहीं रास्ते में ट्रेन में भोजन देगा कैसे होगा पैसा है कुछ हो भगवान है भाई क्योंकि होगा हमारे मिशन में होता सभी पहले से व्यवस्थित हो जाता तो समस्या इन लोगों का स्वागत इनको इतना हमने इनसिक्योरिटी हो जाती क्यों कारण है कि वो अभी उस तरह के मनुष्य की योजना आए ही मुझे गुस्सा लेकर के जीवन चलाए नहीं होते काम कर भी सकते आदि दीक्षा मांग लेते वहां चलो मेरे साथ दरबार की बात में रहते चिदम्बराम की दरबार मुझे बोलना मेरे को चलना मुझे को दिखाया हो गए गांव ले लिया चलता है नहीं कहा खड़ा कर दिया घर के सामने तो मैं बगल में हूँ तुम बोलो तो सही तरफ साथ रोटी आएगी देखना बोलो शर्म आती बात है इसलिए जो कर्माधिकारी है वो कभी इस तरह का वैराग्य और साध्य साधन के निमर्जन कर ही नहीं वो तो साध्य साधन के अधीन चलते हैं और जो ज्ञानाधिकारी है वो साध्य साधन रहते ईश्वर आलमस्त इतना जो साधन कुछ नहीं समस्या नहीं इसी दोनों का समुच्चय न्याय का शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ और ब्रह्म ज्ञान उपासना के साथ असंभव है हमने देखो विद्या कर्म क्योंकि जो अवान्तर फल में इनका समुचय ना इसलिए उनका समुचय हो सकता है अवान्तर फल दो दोनों का अलग फल जहां पर आ गया तो उनका समुचय करना ये फल ना हो तो एक में किसी भी एक में फल न होता तो जो फल नहीं द्वारा है उसको मैं कह रहे हैं फल वाले का अन्न हो जाएगा वही कह रहे हैं अन्यथा फलवद अवरत हो संहित जो हो अंगांग फलवान का और फलवान के साथ में समिति तो फलवान का और फलवान के साथ समिति का होता है और परस्पर अंगांग भाव की सिद्धि होती है पहले यहाँ ऐसा नहीं ऐसे अन्यथा कर दिया पहले ऐसा नहीं होता तो अंगांग भाव हो जाता दोनों में प्रति फल फलश्रवण होने के नाते इन दोनों समुच्चय ही उचित है इसको और स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र आता है अन्य देव आहुर्विद्या अन्य विद्या शिश्र धीराणाम विद्या अन्य देवा हो विद्या मैंने देवोपासना से अन्य देव फलम देवलोकारिकम अन्य देव फलम बाहु ऐसे कहा करते थे हमारे आचार्य लोग अन्य दाहु विद्या और अनित्य मैंने केवल कर्म अग्निहोत्रादि इनसे जो फल होगा वो अन्य ही है अर्थात पितृलोक आदि है समझो ऐसा हमने जो है दीदा नाम ऐसा जो है बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा हमने सुना है ये मैंने जिन्होंने ना मैंने हमारे प्रति तक इस फल भेद को ज्ञान और कर्म के फल भेद को विचचक्षे व्याख्या की थी अन्य पृथ्वीव भाषिकार करते स्पष्ट अन्य मने पृथ्वीव विद्या क्रियते फलम विद्या के द्वारा जो फल मिलता है वो अलग ही हुआ करता है ऐसे इति आहु मन वदंती प्रमाण क्या है विद्या देवलोक मंत्र है विद्या देवलोक विद्या तदारभवती और इस उपासना के द्वारा हिरण्य पद को लोगों ने प्राप्त कर लिया इत्यादि शक्तियों प्रमाण है अन्य बाहुर अविद्या और अविद्या से अन्य देवा हो मैंने अविद्या में कर्मणा क्रियते कर्मणा का प्रमाण कर्म के द्वारा प्राप्त फल में पृथक विवाह करता है अलग ही है गौ उपासना से मिलने तो वाला है वो नहीं है उससे अलग है शुश्रमा श्रुतवंतो वीराणाम धीमदाम वचन ऐसे हम बुद्धिमानों के वचनों को सुना है कैसे सुन लिया आपने करिए आचार्य वो धीमान कौन है वही करिए आचार्य आत्मा मैंने अस्मभ्यम ब्रवी मैंने कर्म च ज्ञानम व्याख्यात कर्म और ज्ञान उनका स्वरूप उनका लक्षण उनका विविधान और उनका फल पर यह संपूर्ण व्याख्यान जो की साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा कोई भी कर्म आकांक्षा हुआ करती है कोई भी आप कर्म लीजिए कोई भी आप उपासना लीजिए सीधा ही आएगा ये साधारण स्त्रोत्र को भी देख लो ना उस अंत में लिखा होता है इससे आप आपको ये समझिए ना उसका फिर कैसे होता हम लोग ये कोई भी कर्म चाहे बाह्य कर्म रूपा कर्मकांड हो चाहे मानस कर्म हो क्रिया रूपा उपासना को हो यहाँ पर आपको पहले साध्य बताना पड़ेगा इससे क्या होगा फिर उसका ये साधन है ठीक है पहले साधन का मनुष्य भूल जाने के लिए स्तोत्र पाठ करके करते रहते तो लेकिन उनका आज कुछ पता ही नहीं इस स्तोत्र का ऋषि कौन है इस स्तोत्र का छंद क्या है इस स्तोत्र का विनियोग क्या है इस स्तोत्र का ध्यान क्या है कुछ पता नहीं एक स्तोत्र पाठ कर जाए क्या हो हवा में फिर चला कोई फायदा थोड़ी ठीक है संस्कृत पाठ करने से बिल्कुल ही संस्कृत पढ़ रहे हाँ, तो लाभ जो करते हैं इसलिए कहते कि देखो कि जिन्होंने व्याख्यान किया तेषाम अयम आगम उनकी ये जो है आगम है सूरी है प्रमाण है क्योंकि तो उन्होंने कहा है क्या सत्यमी तो पारंपरियागत परंपरा से व्यवहार किया है हमारे आचार्य जी की कल्पना नहीं किया है हमारे आचार्य जी के हाथ में चीज परंपरा से हुआ ऐसा कहने वाले कि अनादिंद गायब नित्य वेद का सिद्धांत विद्रोह के लिए हाँ यही कमी है क्या करें ये तो पहले को दूसरे छोटे लोग है तो छोटे अपना बोल के रुद्र कर रहे हैं इस बात को जानना जरूरी प्रत्येक मंत्र का आप पूरा ऋषि क्षण मेरे जानने के लिए कितने पुस्तक है पुस्तक कोई पुस्तक कोई कितनी का छुपी है पुस्तक प्रत्येक विचार का कौन देवता कौन चीज क्या है सब छुपा हुआ पुस्तक मिलता है चंद्र से कहानी सबका आ जाए दूसरे की पूरी होगी हमें इनकी पंद्रह की तीसरी और बाकी ये तो कौन खरीद है कौन पढ़ के समझने का तैयार है कौन चीज पर ध्यान करना करती है तो सब पे जल्दबाजी लगी है एक घंटे के अंदर हो जाना चाहिए रुद्राभिष में तो एक घंटे के अंदर पाठ ही नहीं बनते हो सकता है और पूरा अभिषेक छोटे छोटा पूजन सही सारा काम एक घंटे में मेरी यहाँ चुकर का तो भाई तीन घंटा से कम नहीं इसलिए है चुकर पर चार पॉइंट चार पूजा पूजा है ना चार पॉइंट तीन तीन घंटे की शिविर रात नौ बजे बारह घंटे शिविरात्रि होगा पहला पॉइंट शिविर तरह से ऊपर बजे फिर शुरुआत के बाद तुरंत शुरू होना चाहिए चलना कहानी भी क्या है तो व्याधेश्वर व्याध बैठा रहता ऊपर तो सायंकाल आया सूर्यास्त के समय वो हिरण आया पानी पीने उसी समय इतना मारे गए बाढ़ उठाया तो पहली पूजा हुई पूछे कहानी के हिसाब से यदि देखोगे पहला प्रार तो पूजा कर रही समय और आप लोग बाद पहले ग्रहण की पूजा शुरू कर देंगे तो किसी दूसरे प्राण पहले ग्रहण की पूजा अगर चौथी तरह से पहले चारों तरह की पूजा हो जाना है इसीलिए न तो स्वर पाठ हो रहा है न तो उसका अंदर प्रधान है कुछ नहीं चल रहा है धंधा कलयुग में यही होता है युग धर्म हिंदू धर्म है ना लेकिन ऐसा होना ही इस जमाने का भूषण भूषण नहीं कलयुग का तो भूषण क्या तो उल्टा चलता करना बिगड़ी कैसे बिगड़ सकती नहीं अति विज्ञान से विज्ञान से देवता ज्ञान कर्म से जिज्ञासा इसलिए ऐसा है इसलिए विज्ञान से विज्ञान मैंने देवता ज्ञानम कर्म ये दोनों की दोनों अब अगर हम अंतरारंभ कर विज्ञान विज्ञान च यदो भवधु सह अविद्यामृतमश्रुति ये समुच्चय तक मंत्र एक कारण के लिए उपासना करनी निंदा है यहाँ दूसरे मंत्र में दोनों का समुच्चय का कारण है उनका फल होना चाहिए इस बात को पुष्ट किया आचार्य परंपरा से ज्ञात है कर्म उपासना फल भिन्न भिन्न है तो दसवें मंत्र में अपने था और अब उसी कारण के आधार निंदा और फल भेद जो कारण है इन दोनों का जो फल है क्या समुच्चय वो इस मंत्र विधान विद्यांच विज्ञान या जो अधिकारी अनिश्चय के टाइम दोनों को एक साथ ही करना चाहिए ऐसा योगी योगी सनिश्चय इति अध्ययन करना पड़ेगा वो व्यक्ति अविद्या मृत्यु अविद्या से वो क्या करता है जो स्वाभाविक कर्म है स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है उसको त्याग देता है जिससे पर हो पार जाता है करके क्या करेगा प्रत्युतर विद्या अमृत मुष्टि और विद्या से देवात्म भाव और देवात्म भाव रूपा ज्ञान से उपासना के माध्यम से वो अमृतत्व को प्राप्त कर है तो। उत्तरायण बार पा करके वो ब्रह्म पहुंच जाएगा कई लोग में उसको प्रमुख ज्ञान मिल जाएगा वहां से वो मुक्ति सद्य मुक्ति नहीं यहीं पर वहां जाकर क्रय मुक्ति मिल जाएगी ये लाभ है वो सुनिश्चित होना ये रुपये फल को मिलना ही यदि में तो कोई फल नहीं मिलेगा कर्म केवल कर्म करने वाले को तो केवल उपासना होता विधि विधान भी जो तो कर्म करे विधि विधान भी जो उपासना करता है केवल मिली उसको परिवर्तन बताया गया तो फल उसको मिलेगा कोई मोक्ष नहीं है वृत्ति को मालूम नहीं है ये वहां पर कोई अगर ऐसा एवं जिस भी ऐसा है पृथक फल जाना है और पृथ्वी की निंदा भी है इसी वजह से यथाकार है यथा पृथक फलवत्तम और निंदित प्रत्येक अनुष्ठान निंदा अच्छा भवती तस्मार अतो विद्याम च विद्यम च देवता ज्ञानम कर्म च सुनिश्चित अनुष्ठीय यह तदेत दुगलम सह एक पुरुषेण अनुष्ठीय वेद जो व्यक्ति तदेत जो दोनों के दोनों कर्म और उपासनाओं को सर एक ही पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा जानता है विदित्वा अंतुष्टि वेदा में यदि वेदा कह लिया तेना उसको विदित्वा अनुष्ठित जान करके अनुष्ठान कर दे जानने से नहीं होगा क्योंकि जानने से क्यों नाम मिलता आपको में कर्म और उपासना में जानने से लाभ नहीं जान के करने से लाभ आपने जान लिया हलवा कैसे बनता है बस चुप बैठ गई तो हलवा खाने को मिल जाएगा अरे बनाना पड़ेगा जानने से काम चलता नहीं करना पड़ेगा तब मिलेगा उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि कर्म उपासना ऐसी चीजें हैं तो जानने मात्र से अपने फल नहीं मिलता लेकिन जन्म ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जान गया खत्म तो हो गया मैं दसवा हूँ तो जान लिया तो रोना धोना बंद जैसा मर गया तो रोते थे समझी तो सुना आपको ज्ञान हो गया जान गया नहीं तो करता बात खत्म हो अगर कुछ करना नहीं है मैंने किए ही तो उसका दुख शोक वो सब खत्म हो गया ये ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ज्ञान की विशेषता यह है आपको करना कुछ नहीं है जानना है मैं ब्रह्म उत्पन्न हो गया आप जानते ही इसलिए आपका तो काम हो ही गया आप लोग सब जानते जाएंगे वो बात अलग चीज कितना है जानते हैं कहाँ तक समझी है कहाँ तक अनुभव हुआ है ये बात ही अलग चीज परोक्ष ज्ञान तो है सब जन परोक्ष ज्ञान तो सबके पास है और अपरोक्षानुभूति हुई या नहीं हुई अलग चीज उसकी यहाँ पर चर्चा तस्वीर तो समुच्चय कारण इस प्रकार से वह जो समुच्चयकारी है व्यक्ति समुच्चय कारण मैं वो अनुष्ठाता पुरुष दोनों का अनुष्ठान करने जो पुरुष है और एव एक पुरुषार्थ संबंध है तो क्या करता है अरेव एक पुरुषार्थ संबंध क्रम एक पुरुषार्थ के साथ उन दोनों का संबंध क्रम से हो जाता है उसको क्या से समझे इन दोनों का अलग अलग नहीं मिलेगा उन दोनों को इकट्ठा जो समुचय करके करता है उन दोनों से मिलकर के एक पुरुषार्थ सिद्ध होगा कोई भी देवलोक भी जाएगा और पितृलोक भी जाए दोनों भी जाएगा हो नहीं सकता इसे दोनों ही से मिल करके उसको सिद्ध होगा फल एक एक पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ वो चीज होगी जिन दोनों से मिल अलग जो अलग अलग करने पर जो फल मिल रहे थे ये भी नहीं मिलेगा फल तो भी फल गया दोनों हाथ से गया राम को चौ वो चीज मिलेगा क्या बता रहा है अविद्या मैंने कर्मणा अग्निहोत्र आदिना तो नित्य कर्म जो अग्निहोत्रादि है उसको विधि विधान का अनुष्ठान करता है करके मृत्यु मैंने स्वाभाविक कर्म जो स्वाभाविक कर्म क्या अब वो निष्ठा पूर्व नित्य कर्म कर रहा है अग्निहोत्रण कर रहा है तो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है तो अशास्त्रीय प्रवृत्तियां वो अपना कठिन अगले तो सगरे उठोगे और संध्या नहीं करके करोगे क्या कुछ और तो करोगे ना जो करोगे क्या होगा उसमें तो क्या और अशास्त्रीय कर्म है अनागर नहीं हम तो देवता की पूजा कर रहे थे भाई देवता का पूजा जिस समय में करना चाहिए तो उस समय हमने नहीं किया जिस समय में जो करना है शास्त्रीय कर्म उस समय वही शास्त्रीय कर्म करना ही विहित कर्मानुष्ठान कहा जाएगा और जिस समय में जो शास्त्रीय कर्म कहा गया वह शास्त्रीय कर्म न करके कोई दूसरा शास्त्रीय कर्म नहीं कर रहे हो तो उसका भी नाम अशास्त्रीय कर्म है आगे ही कर्म ही कर्म तो ध्यान रखना ये लोग पागल रहते हैं अरे हमने ये नहीं कर तो क्या हो दिया हम पूजा पाठ तो कर रहे थे गलत काम नहीं कर रहे थे पटवारे तो बुराई गलत कर रहे थे उल्टा चले जा रहे मैंने गलत नहीं किया बुराई कर जैसे संजय करते सूर्य मतलब सूर्य ज्योति ज्योति है स्मृति काल में मुझे पूजा के पूर्व में शुरू करो और बाद में समाप्त करो या सूर्या के बाद में शुरू करके भी समाप्त कर सकते कोई दिक्कत नहीं लेकिन तो ये है कि आप जो है वहां पर दो घड़ी से ज्यादा देर नहीं है दो घड़ी पहले दो घड़ी बाद उदित तो ज्योति और उदित ज्योति दे रही है और उन्हें तो करनी भी क्यों ना हो तो करनी भी सूर्योदय के ठीक सूर्यास्त या सूर्योदय के ठीक करना तो सूर्य से पहले या सूर्य के बाद या सूर्य होता है सूर्यास्त पहले सूर्यास्त के बाद उसकी मंजी यही दो घड़ी से ज्यादा देरी नहीं इसलिए गुरु प्रकार ने विधान बताया है कि भाई सूर्य अंदर होने के बावजूद भी दिव्य कारण दिखाई तो पूर्ण नहीं होना है उन्होंने तो पर आगे आप थोड़ी ये समय नहीं है ये तो गया समय बीत गया उसका राज बीस हो रहा है आज मेरे समाज के हमारे बच्चे दस किसी हो रहा है इसी हिसाब से अगर तो समझना है तो साथ दस सारा सात तक जाते के अंदर अंदर संध्या शुरू हो जाएगी ये मुहूर्त हो गया अच्छा होता है ब्रह्म उत्तम होता है लेकिन वैष्णव बाधा उत्तम होता है तो पूर्ण में करना असम होता है तो मंत्र करना सब ये बोल रहे हैं लेकिन जो कर्म जिस समय में कहा गया वो कर्म उसी समय करो इसे दस पूर्णिमा जिसी आ जाए भाई हमको पूर्णिमा के दिन बद्रीनाथ जाना है इसलिए आज रोजी से तो मैं दस पूर्णिमा जिसी कर दूंगा देख कैसे करोगे तुम मैं कर दूंगा तुम जान दो तो वो किसी आया ही नहीं करोगे कैसे तो किसी आने के लिए रुकना पड़ेगा उसके जब कोई दूसरा गर्म कर दूंगा चाहे किसी और और कर्म कर दूंगा तो उनका अनुभव नहीं सकता कल सुबह का अभी मैं भोजन कर लूंगा और आज के भोजन कल करूंगा ये तो बिल्कुल की बात है कर हैं को भी मध्यम कोटि की संख्या मध्यम कोटि को कमे करो उत्तम कोटि को बदले करो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है उसके फल व्यवस्था का फल भी होना चाहिए शाम नहीं कर शुरू शुरू का कल होना चाहिए एक सौ याद हो आप शुरू कर देना देश में किसी आगम को टिकम तो इसलिए कहते कि देखो साधन कर्म ज्ञान अच्छा ज्ञान अच्छा मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम तीर्थवा मृत्यु शब्द राशि क्या है स्वाभाविकम कर्म स्वाभाविकम ज्ञान मृत्यु शब्द क्या हो गया जो तो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक कर्म मतलब वही है अवहित कर्म जो भी हम उल्टा पलटा कर रहे हैं वो तो सारे का नाम स्वाभाविक कर्म और उल्टा पलटा जो उपासना हो रहा है वो सब स्वाभाविक उपासना माने शास्त्री है अविहित कारण में विधान का आप अनुष्ठान कर दिया विहित कारण अनुष्ठान नहीं किया तो विरोधी अशास्त्रीय है तो भी स्वाभाविक अंत्यता है तो सारी चीजों को मृत्यु शब्द से कह दिया अतिक्रमण दोनों का अतिक्रमण करके विद्या देवता ज्ञान अमृतम हमें देवता भाव अश्वते और देवता भाव को भी प्राप्त कर देता है उस देवता के भाव को ही अमृत शक्ति पर कह दिया है फिर देवता कहने का मतलब देवता स्वयं प्राप्त कर जाता है